बुद्धि के बल पर आती है वो भी ज्ञानी हो जाते हैं लेकिन भक्ति से चलते हैं तो मार्ग सरल होता जाता है अंत में ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है अगर शुरू शुरू में किसी व्यक्ति की बुद्धि तो है मंद और प्रारंभ किया उसने ज्ञान मार्ग और फिर समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेगा उठा दूर तो सब कर दिया किनारे का आगे सब मुझसे होने वाला नहीं बात छोड़ दिया तो इस प्रकार की संभावना हो इससे अच्छा है कि व्यक्ति भक्ति मार्ग चले और उसमें बीच में कोई बाधा उसके नहीं पड़ेगी वो आगे बढ़ता रहेगा चलता रहेगा ज्ञान भी आगे आ जाएगा सब स्पष्ट हो जाएगा इसलिए ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका और साधन कठिन मन को टेका माने ज्ञान में जो है देखो ये इससे एक तो ये है कि ज्ञान से भक्ति अधिक श्रेष्ठ बता रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं वो तो साथ ही दिखाई देती है लेकिन ज्ञान क्या है वो भी बता रहे ज्ञान का तत्व इसी बीच में प्रकट हो जाता है आगे चल करके काकभूषण फिर बताते बड़ा कठिन है तो ज्ञान कठिन तो बताते हैं और कठिनाई उसकी बताते हैं लेकिन ये सब स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान का साधन क्या है वो भी तो स्पष्ट हो जाता है उसका ज्ञान मार्ग का क्रम क्रम से क्रम क्रम से किस प्रकार से सात्विक श्रद्धा अध्ययन स्वाहित है जहाँ बताएंगे तब इसके माने ज्ञान प्राप्त करना है सत्गुण इत्यादि प्राप्त करो अगर ऐसा दीपक जलाओ वैसा दीपक जलाओ ऐसी बत्ती बनाओ ऐसा घी डालो इसके माने ये सब साधन ज्ञान के जगह वो सब के सब हो फिर बता देते हैं कि ज्ञान साधन में ये सब की आवश्यकता बनती है तो यहाँ पर भी भगवान ऐसे बताते तो ये ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ इसलिए कि ज्ञान की तरफ ध्यान ही मतलब तो ये नहीं कहते हैं ज्ञान में इस प्रकार के है ज्ञान के मार्ग पर चलो तो जैसे उपनिषद में भी कहा गया है चरस धारा निशिया दुर्गम पतम तद कभी वदंती अरे भाई ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है इस प्रकार से जब तो आगे भी वहां पर भी किसी का अनुवाद भी दूसरी जी में कर दिया आगे जहाँ भूषण जी बोलेंगे वहां भी इसी प्रकार से बोलते हैं ज्ञान की धार किसान की धारा भरत खगे सबूत नहीं हमारा माने उससे गिरने में देर नहीं लगती तो ये ये जो ज्ञान की बात है इसके माने जो अधिकारी व्यक्ति हैं वो तो इस पर चलते हैं उपनिषदों में इस ज्ञान का वर्णन किया गया है तो ज्ञान अगम और प्रत्यु अनेका मार्ग में अनेक प्रत्यु है मार्ग में प्रत्युह में बाधाएं आती है मैंने अधिकारी व्यक्ति ज्ञान साधना करेंगे तो उन्हें बाधाएं आएंगी उनका अहंकार बीच में आएगा उनकी इंद्रियों में जो इंद्रिय भोगों में उनका लिप्त है मन राग है आसक्तियां हैं ये सब ज्ञान मार्ग में बाधक है पहले ही जब शंकराचार्य जी कोई ग्रंथ शुरू करते हैं चाहे तत्वबोध हो चाहे आत्मबोध हो चाहे विवेक चुड़ामणि हो कोई भी ग्रंथ हो उठान भूत में पहले क्या बताएंगे साधन चतुर्थ विवेक वैराग सब संपत्त मुख्य तो पहले इन्हीं की चर्चा करेंगे पहले वैराग पहले लाओ पहले विवेक लाओ सब आगे की बात सुनो अब वहाँ विवेक है ही नहीं वहाँ वैराग्य है ही नहीं अब क्या करें पुस्तक में कैसे प्रवेश करें कैसे ज्ञान भगवान कहते हैं कोई वैराग्य पहले जरूरत पड़ती है तो जिनमें वैराग्य आदि है उनके लिए तो ज्ञान तत्काल उपयोगी है तत्काल ज्ञान की भी अपनी महिमा है ज्ञान की ये महिमा है कि अगर कोई अधिकारी व्यक्ति हो तो ज्ञान प्राप्त करके पूर्णता सिद्धि प्राप्त करने में उसको देर नहीं लगेगी संध्या तत्काल मुक्ति व्याकरण उपनिषद में आता है कि राजा जनक निष्काम कर्मी में थे चित्र को सुन वर्ग जो उनसे मिले बैठे घंटे चर्चा हुई तत्व ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की जाकर सब से शुद्ध का विश्लेषण करके साक्षी आत्मा जो है उसका उनको निरूपण किया और जनक जी को दिखाई भी दे गया कि हाँ साक्षी तो होता है ही है बस यही साक्षी जो आत्मा है तो उन्होंने समझ लिया कि ये आत्मा है आत्मा सर्वात्मा है कि नहीं है तो उन्होंने कहा कि हाँ सर्वात्मा तो है ही इसमें कोई इसकी कोई सीमा तो इसकी आत्मा की है ही नहीं ये चेतन तत्व तो अनंत होकर के विद्यमान है इसके मन सर्वात्मा तो होना ही चाहिए तो उनका जो सर्वात्मा है यही सर्वाधिष्ठान भी है यहाँ सर्वाधिष्ठान भी है यही परमात्मा है यहाँ यही परमात्मा है और देखो जिसको भी तुम देख रहे हो ये तुम हो तुमसे भिन्न कोई है क्योंकि यही हमारी हमारा ही रूप है तो बस तो और तुम्हें क्या चाहिए हो गया ज्ञान तुमको अब चित्त शुद्ध हो तो इतनी देर से ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं बात करने बात खत्म हो गई है तो अगर चित्त शुद्ध न हो हमें अपनी वृत्तियों का दृष्टा साक्षी दिखते ही नहीं है नहीं देखता है तो भगवान का नाम ही जब करो तब तक चला गया है बस इसी रास्ते पर आप चलते रहो चलते रहो बाढ़ की छुट्टी में पहुंच जाओ पैदल न चलने पाओ तो रास्ते में आपको घोड़े भी मिल जाएगा आप बैठ लेना चढ़ के चले जाना उसको तो। वो रास्ता बता देंगे लेकिन उनसे कहेंगे कि पार्टी को कि हमारा सामान लेकर के तुम चले चलो तो क्या हाँ तुम्हें सड़क पे चलो हम आते हैं कहते तुम आगे आगे चलो कि नहीं हम तुमसे आगे पहुंचेंगे लेकिन तो चलो तुम आगे आगे आपको चलने वाला सड़क पर रखिए अपने आए जो यहाँ से मैदान थे वो अपने वो लंबा वाला रास्ता चल रहे हैं चल रहे हैं इधर उधर इधर इधर ऐसे करते करते ऊपर जब तक पहुँचते हैं तो उस पहाड़ी को दिखाई देता है कि देखो ये सीधा रास्ता इधर पर गंडी वाला रास्ता झाड़ियों के बीच से होकर के जाता है तो आपने सामान पीठ पर बांधा और उसी रास्ते से चढ़ करके और जाकर उसका भी खड़ा हो गया अब वो देखते रहे रास्ते भर हम पीछे छोड़े आए हैं उसको पहाड़ी को वो सामान ला कर अब आता होगा अब आता होगा अब आता होगा और वो देखा कि सब रास्ते पर देखते रहे वो आई रहा है ऊपर चढ़ करके जब वो पहुंचे तो देखा वो तो पहले सामान धरे हुए आराम कर रहा बैठे ऐसे ही दो रास्ते हैं लेकिन पहाड़ी के शरीर में रास्ते बच्चा भी जाता है तब तो वो चला जाता सीधे रास्ते तो यहाँ मैदान के लोगों को अपना शरीर ही लेकर के उसके ऊपर तक चढ़ना मुश्किल है उस शरीर का वजन इतना ज्यादा है कि एक एक पर उठाकर चढ़ना मुश्किल इसी प्रकार से संसारी व्यक्तियों को वहां तक जिन्होंने तक नहीं किया है अपने आप में उन्होंने साधना वैराग्य आदि नहीं लाए हैं विवेक आदि नहीं लाए हैं तो दुर्बल है ऐसे दुर्बल लोग संसार में अधिकांश ऐसे अध्यात्म के लिए दुर्बल है मन कच्चा है शरीर करने के लिए उनको अपने हर वक्त उन्हें आराम चाहिए सारी सुविधाएं शारीरिक चाहिए खाना ऐसा चाहिए लेटने के लिए ऐसा चाहिए पानी ऐसा चाहिए बस यही चाहिए उसी के चक्कर में उसी में सब में पड़े हुए हैं उनको कहाँ इतनी सामर्थ है कि इस अध्यात्म विद्या को सीखने के लिए व्यस्त होकर के पूरे जो है इस प्रकार जैसे तलवार की धार पर कोई चढ़ता चढ़ जाओ सूर्य पर चढ़ने को हो तैसे चढ़ जाओ इतनी कहा हिम्मत उनको पड़ी हुई है फिर वो ज्ञान भी उनके लिए फिर अगम हो जाता है ज्ञान अगम ऐसे लोगों के लिए अनधिकारी व्यक्ति हो तो ज्ञान अगम लेकिन भक्ति का मार्ग सुलभ है लेकिन बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो एक जीवन दो जीवन तीन जीवन जब होगा तब इस प्रकार से वहां पहुंचेंगे अनेक जन्म संसिद्धि तो याद पर ये भक्तों के लिए है वो लोग अनेक जन्म तक इसी प्रकार साधना करते रहे करते रहे तब उनका भक्ति के द्वारा चित्त भी शुद्ध पहले होगा भक्ति करते करते होगा क्या भक्ति करते करते पहले वैराग्य आएगा विवेक आएगा सत संपत्ति आएंगे मुमुक्षत्व आएगा परमात्मा में प्रेम दृढ़ होगा अनन्य भक्ति आएगी ये सब जब तक आएगी आएगी तब तक परमात्मा तक पहुंच जाएगा वो सब आते आते जहाँ प्रकार दिन लगेगी इसलिए कहते हैं कि ये सब जो है वो भक्ति के मार्ग में उपलब्धियां दो प्रकार की एक चित्त शुद्ध की एक परमार्थ की प्राप्ति की ज्ञान के मार्ग में ज्ञान के मार्ग में चित्त शुद्धि करके पहले आप हम्म। अब जहाँ चित्त शुद्ध है तो ज्ञान के द्वारा परमार्थ की प्राप्ति एक बात इस प्रकार से सब में कहा क्या क्या अंतर है स्वयं विचार करके आप देखो तो नेशनल माइंड अगर हुआ संगत बुद्धि होगी तो स्वयं अंतर देख लेगी सब समझ लेगी कहाँ क्यों है इस प्रकार कैसे कहाँ है दुखरत कष्ट प्रिय नहीं सो ऐसा लगता है कि ज्ञान के मार्ग पर चलने में कष्ट भी होता है दुखरत कष्ट को बहु पावे आता है तो बड़ा कष्टकारी होता है उसे सब छोड़ना छाड़ना पड़ता है व्यर्थ होना पड़ता है गर्मी सर्दी सहन करनी पड़ती है खाना पीना छोड़ना पड़ता है भीख मांग के खाना पड़ता है बड़ा कष्टकारी काम है ऐसा लगता है इस प्रकार से तब वो जो है गुरु के पास रह करके इस ज्ञान को सीखता है गुरु की भी सेवा करे उसके पास भी रहे बड़ा कठिन काम सब है तो कहते हैं कोई बड़ा कष्ट करके ये ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो कहते हैं भक्तिहीन मोहित प्रिय नहीं सो अगर भक्ति उसमें नहीं आई तो वो ज्ञान ही जो हो कहते हमें प्रिय नहीं हो ज्ञान उसके लिए भले हो <clears throat> लेकिन वो ज्ञानी व्यक्ति हमें तब प्रिय है जब उसमें भक्ति भी हो लेकिन ये भी बात कि रामायण के पहले बालकांड में तुलसीदास जी कह रहे हैं और गीता में भी भगवान ने बोला सातवें अध्याय में कहते हैं कि देखो भक्त चार प्रकार के होते हैं और मैं जो है भक्त है वो अज्ञानी भक्त मुझे ऐसा प्रिय नहीं जैसा कि ज्ञानी है इसके बाद ये ज्ञान कहाँ से आ गया भगवान के लिए कह रहे भक्त मुझे प्रिय लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय क्यों कि वो तो मेरा आत्मा ही है जैसे कल बात चल रही थी पुत्र क्या है मेरा अपना हाथ नहीं है ऐसे करके भगवान कहते हैं कि भक्त तो सब है लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरा हाथ नहीं है परम है तो आप देखो भक्त में और भगवान में आत्मत्व भाव आ जाता है आत्मा के स्तर पर दोनों एक हो गए तब तो ज्ञान हुआ और जब ऐसा ज्ञान हुआ तो भगवान को भी ऐसे ज्ञानी भक्त से परम प्रेम हो गया अन्य भक्तों से भी प्रेम है लेकिन ज्ञानी भक्त से विशेष प्रेम है वो भी सब बातों को याद रखने की बात है उनको सबको ध्यान में रख करके तब इसे देखते हैं कहते हैं कि कर्त कर्त बहु पावे को भक्तिन मई प्रिय नहीं सो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहान राम प्रेम परिधानो जोग भी कुजोग है मैंने योग अभी योग बना नहीं और ज्ञान अज्ञान ज्ञानी ज्ञान भी अभी ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं है कब तक जहाँ राम प्रेम परिधानु जहाँ भगवान के राम के प्रेम का उसमें परिधान नहीं पहनाया गया वस्त्र नहीं लगा हुआ उस ज्ञान को भगवान के प्रेम के साथ लपेटो तब वो ज्ञान ज्ञान बनेगा तो माने ये है कि आज यदि आत्मज्ञान हो गया परमात्मा का ज्ञान हो गया साक्षी भी मिल गया आत्मा भी मिल गया सर्वात्मा मिल गया परमात्मा मिल गया तो मिल जाने से क्या होता चित्त उसमें स्थित हुआ कि नहीं हुआ चित्त लगा के नहीं लगा मुख्य बात तो ये अगर चित्त उसमें लग गया तो तो फिर वो ज्ञान सब ठीक है और पूरा ज्ञान है और चित्त उसमें नहीं लगा चित्त रखा हुआ है संसार की मिथ्या वस्तुओं को पदार्थों में तो बताओ ये ज्ञान है उसी में लगा रहे विषय भोगों की कामना आसक्तियां सब छूट जाए समस्त नाम रूपात्मक जगत मिथ्या दिखाई देने लगे एक आत्मा ही परमात्मा ही सर्वत्र उपलब्ध हो वहीं पर विश्राम मिल जाए शांति मिल जाए उस स्थिति से उस भाव से परमात्म भाव से चित्त हटे नहीं सदा उसी में विश्राम करे तो ये सब स्थिति का नाम ही पर भक्ति है इसलिए कहते हैं कि भक्ति ही मोहि प्रिय नहीं सो भक्ति स्वतंत्र सकल को भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी भगवान कहते हैं देखो भक्ति स्वतंत्र है और सब सुख की खानी है स्वतंत्र माने क्या है यहाँ पर देखो स्वतंत्र के माने ये नहीं कि अपने आप आ जाती है उसकी भी साधन है वो आगे स्वयं वर्णन करते हैं लेकिन स्वतंत्र के माने ये कि अगर कोई व्यक्ति जो हो भक्ति के लिए ये कहे कि ये सब वो सब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जब तक हम पाप कर्म करते हैं तो हम तो भक्त हो ही नहीं सकते तो गीता में भगवान ने कह दिया पापी हो तो पापी तुम्हारा सब पाप आप छूट जाएगा भगवान के अगर तुम शरण में जाओ उनकी भक्ति उसी समय करने लगो ये बात दूसरी कि पापी दुराचारी भगवान के सम्मुख होता नहीं उनका भजन करता नहीं ध्यान कर तो देता नहीं लेकिन अगर ध्यान दे तो ये शर्त नहीं कि पहले तुम तो अपने पाप कर्म छोड़ो तब भगवान का भजन करो वहां यह कि अगर पाप कर्म तुम्हारे नहीं छूट रहे तो भी भगवान का भजन करो भगवान के भजन के बल से तुम्हारा पाप कर्म छूट जाएगा अपचेत सुदुराचारो भजते माम इसके माने जो दुराचारी है वो भी भगवान का भजन कर सकते हैं तब तो भगवान ने बोला ये तो नहीं कहा कि दुराचारी व्यक्ति पहले दुराचार को छोड़े तब तो मेरा नाम ले सकता नहीं नाम नहीं ले सकता नाम तो ले सकता भगवान का भजन तो कर सकता है भगवान की भक्ति कर सकता है वो भी लेकिन ऐसा भक्त जो है वो फिर धीरे धीरे करके उसका दुराचार छूट जाए भगवान ये नहीं कहते दुराचारी बने रहो हमारी भक्ति भी हो जाएगी ये कहते हैं अगर दुराचारी हो दुराचार छूटता नहीं तो भक्ति वहीं से शुरू कर दो कोई कंडीशन उसके साथ में नहीं है कि आप ये करो वो करो तभी भक्ति हो वहीं से भक्ति आपके प्राप्त तो प्रारंभ हो जाएगी अब चेत हो भजते माम भाग बस साधु देव समंतव्या आप देखेंगे कि उसी समय से तो मंतव्य तो मान तो उसी समय से लिया जाएगा भगवान को भजन भजन करता है तो साधु ही है बलिद्राचार्य हो लेकिन उसके बाद साधु हो भी जाएगा उसका तो दुराचार छूट भी जाएगा इसलिए भक्ति स्वतंत्र है कि इसके साथ कोई कंडीशन नहीं कोई व्यक्ति कहे हमें परमात्मा का तो ज्ञान नहीं हमारी भक्ति कैसे हो तो कहते तुम्हें परमात्मा ज्ञान हो बिना जाने ही परमात्मा का नाम जब किस बल पर अब आगे बता देंगे बल पर सत्संग के बल पर बल पर जपो हम तो जानते नहीं भगवान क्या होता है कैसा होता है जानो न जानो कुछ बात नहीं उसकी भी जरूरत नहीं अभी वो सब जान जाओगे आगे चल कर किस अर्थ में भक्ति स्वतंत्र है कि कुछ भी आपके लिए और कोई कंडीशन उसके साथ नहीं लगाते जैसे आपने बताया कि शंकराचार्य का ग्रंथ आप देखेंगे तो उसके पहले कंडीशन विवेक लाओ वैराग लाओ सत्संग लाओ मुमुक्षत लाओ जैसे तो कि मैंने ज्ञान इन पर आश्रित है अगर ये नहीं होगा तो ज्ञान होगा नहीं भक्ति के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है हाँ। कुछ करो भगवान की पूजी करो आरती करो नाम ही जपो कहीं से कुछ शुरू कर दो तुम और उसके बाद कुछ उसमें जो हो किसी प्रकार के अधिकारी भेद की आवश्यकता नहीं है ऐसा अधिकारी होगा वही भक्त बनेगा नहीं तो अधिकार अनधिकारी भक्त नहीं बनेगा ये भक्ति में सुलभता है इसलिए कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी ही सब सुख की कहानी इसमें कोई कठिनाई भी नहीं कठिनाई वैसे आती है जब कोई व्यक्ति से ये हो कि भाई तुम पहले विरक्त बनो तब अध्यात्म साधना कर पाओगे आगे और बैराग्य लाना कठिन तो जब बैराग्य लाना कठिन तो कैसे कोई करे ऐसी भक्ति में कोई कठिन बात बताई नहीं गई इसलिए सुलभ है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी देखो आधे में कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र और आधी चौपाई में कहते हैं बिन सत्संग न पावे प्राणी बिना सत्संग के मिलने वाले नहीं इसके माने भक्ति जो सत्संग पर आश्रित है बिना सत्संग नहीं मिलेगी तो एक ही साथ इतनी जल्दी क्यों बोल दिया ऐसे ऐसे तो लगता है कि भक्ति स्वतंत्र नहीं है ये तो सत्संग पर आश्रित है लेकिन ये आश्रय का तात्पर्य नहीं है आपको आज उसका दोनों को तालमेल बैठाने के लिए देखना पड़ेगा जैसा कि भी बताया भक्ति स्वतंत्र के माने इसके लिए किसी कंडीशन की पहले जरूरत नहीं है और जो सत्संग है ये सत्संग भी क्या है ये सत्संग भी एक प्रकार की भक्ति है सत्संग तो से ही भक्ति प्रारंभ होती है और पहली भक्ति सत्संग है प्रथम भगत संतन कर संगा वहां भगवान ने बोल दिया कि सत्संग क्या है ये भी भक्ति ही है पहली और सत्संग में कौन व्यक्ति आवे जो ज्ञानी हो आवे है क्या भगवान का भक्त वही सत्संग में आवे अरे सत्संग में जितने दुराचारी भ्रष्टाचारी जितने की मूर्ख अज्ञानी जितने हैं सब सत्संग के लिए उनके लिए द्वार खुला आओ सत्संग कोई उसमें प्रतिबंध टिकट नहीं कि तुम ऐसे नहीं ऐसे आओ ऐसे नहीं आओ सत्संग में सबके लिए ओपन इसलिए वहां पर स्वतंत्रता तो इस बात की है भक्ति स्वतंत्र लेकिन उसमें सत्संग जो शुरू भक्ति सत्संग से ही होती है सत्संग नहीं होगा तो भक्ति नहीं आएगी सत्संग से तात्पर्य कि जहाँ पहले भक्त लोग हैं ज्ञानी लोग हैं उनके पास बैठेंगे तो उनके संसद से आपके अंदर श्रद्धा भी आने लगेगी विश्वास आने लगेगा परमात्मा का ज्ञान आने लगेगा और जो साधन भक्ति इत्यादि के करने हैं ज्ञान आदि के करने हैं वो भी सब वहाँ धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगे जो गलत रास्ते पर जीवन में चल रहे थे वो भी उसकी गलतियां भी समझ में आने लगेंगी क्या गलतियां अभी तक करते रहे थे उनमें सुधार किस प्रकार से करना है ये बात भी सब समझ में आने लगेगी इसलिए कहते हैं ये कि सत्संग न पावे प्राणी सत्संग चाहिए यहाँ से अब भगवान कहते सत्संग भक्ति प्राप्त कैसे हो तो पहली बात सत्संग है वही बिल्कुल बात वहाँ अभी ये होता है होता है एक नई बात यह है जो पहले

पूर्ण नहीं किया न किया होगा पिछले पूर्ण जीवन में किया होगा और किसी जीवन में किया होगा सभी ने सभी पुण्य किए होंगे तो उनके पुण्य के उदय से जीवन में सत्संग मिला है बिना पुण्य के सत्संग मिल नहीं पुण्य तो मिलेगा और संगत संस्कृत का मिल जाए तो काम हो जाता है संस्कृत बनाने भी वही है संसार जाता संस्कृत के मैंने संसार सत्संगत संस्कृति का उससे संसार सागर की कर देती है जाता है अब देखो कौन से जो सत्संग मिलता है तो पुण्य तो किसी न किसी जीवन में कुछ न कुछ व्यक्तियों में की ही होंगी लेकिन वे पुण्य भी व्यक्ति को सत्संग प्राप्त कराने इसमें दो हेतु पुण्य के फल कई हो सकते हैं पुण्य का फल सड़ू जा सकता है स्वरूप हो गया है पुण्य खंडन हो गया पुण्य का फल जीवन भी मिल सकता है उसमें कोई विषय भोग इत्यादि सुख प्राप्त कर लिया उसके पुण्य के फलस्वरूप भौतिक सुख प्राप्त हो गया सुख भोग लिया तो उसको गौर करो पुण्य का फल तो ये भी हो सकता है सत्यम और अपने आप से प्राप्त नहीं इसके लिए तो भगवान तो यह वही तो है वो आगे बढ़ता है अपना फल दे सकता है भौतिक सुख दे सकता है का सुख लेकिन वही पुण्य का फल सत्संग भी दे सकता है तो सत्संग गीता ही फल से प्राप्त हो ही कैसे दर्शन करने वाला व्यक्ति को सत्संग दर्शन उनको रहे उसकी तरह अगर भगवान की कृपा हो तो वे ही उसकी बुद्धि को मार्गदर्शन सत्संग की तरह तो वो जब भगवान तो पहले देखेंगे कौन इसके हैं कि नहीं पहले से जैसे कि गुण रहे होंगे तो भगवान अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस पुण्य का सत्संग दे सकते हैं तो कहीं कहीं बात ने तो यह भी कह दिया कि देखो सत्संग बिना तो भक्ति नहीं आती है सत्संग संभव तो भगवान की कृपा से उसको सत्संग बनाए भगवान अपनी कृपा से पुण्य का फल सत्संग के और दूसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति जो हो ये कहते हैं कि देखो पुण्य क्या है जैसे पुण्य एक जैसे मैंने पूजा मन कर्म वचन विप्रत पूजा अगर कोई व्यक्ति जो वो हो मन वाणी और कर्म से विप्रों के चरणों की पूजा करने वाला हो तो ये उसका पुण्य है और गुण के फलस्वरूप भी उसको भक्ति प्राप्त हो सकती है कभी कभी बातें भी ये सही बातें हैं और बिल्कुल चिंतित भी बात अगर उसके का लेकर के उसको प्रकाश करे तो कोई भी चिंता आवश्यकता नहीं लेकिन लगती है कि साथ मित्रों को उनके से उनके चरणों में उनकी तरफ ये क्या विशेषता वाली बात है तब उसकी व्याख्या करने पर की बात बताना पड़ता है यानी कि ये अभी जैसे कि भगवान ने संतों के लक्षण जहाँ बताए हैं वहाँ भगवान कह आए हैं ये लोग क्या है ये जो है ये धर्म जनयत्री है धर्म जनयत्री पुत्रों के लिए बोला है धर्म विदेशी करेंगे मित्रों से अगर मैत्री होगी उनके साथ बैठेंगे उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो धर्म की शिक्षा देंगे और अगर उनसे मित्रों के साथ रह करके धर्म की शिक्षा प्राप्त की तो व्यक्ति को जहाँ धर्म की भावना जागृत हुई वहाँ तो पर की प्रति विकास हो जाए परमात्मा की तरफ चल पड़ेगा सत्संग की तरफ इच्छा होने लगेगी जो सब आ इसलिए कहते हैं कि पहले व्यक्ति स्थिति पुण्य उसके होने चाहिए तो कहते हैं पुण्य भगवान देखो तो इस प्रकार का पुण्य ही है नाना प्रकार का पुण्य तो बहुत प्रकार कर सकते हैं परोपकार भी हो सकता है दान भी हो सकता है इस प्रकार के बहुत से कार्य भी हो सकते हैं भी है लेकिन यहाँ कहते हैं कि जिस पुण्य से सत्य प्राप्त होता है वो प्रवृत्ति है और चाहे भैरव की पीठ को उन्होंने शुक्रों की पीठ बोल दिया बस बात पहले व्यक्ति के मन में धर्म की तरफ हो उसकी तरफ रुचि हो तो फिर उसको सत्संग भी लगने लगेगा और सत्संग प्रिय लगने लगेगा तो उसको फिर भक्ति भी आ जाएगी इसलिए ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है सत्संग भी भक्ति है और ये भी पूजा की भक्ति है भगवान स्वयं अपनी छाती के ऊपर विप्रों की लाश हुए उनके बैठे दिखाते हुए कि देखो विप्रों की छाती का हम विप्रों का चरण हमारी छाती में चिपका हुआ लोग यही चलता है कि विप्रों के चरणों की क्यों पूजा करें अरे जब भगवान अपनी छाती से लगा घूम रहे हैं और अपनी सुंदरता का सिर बनाए हुए होते हैं भगवान का शरीर हाथी दक्षता बड़ा सुंदर लग रहा था क्योंकि उसने कभी भी लाभ सकती हुई दुकान बनाया जैसे कोई आप दीदी जमीन में आप चलो ये पैर हो और भगवान उसको लिए चिन्ह को हुए बड़े गौरव से घूमते हैं तो छाती भगवान के पुत्रों के चरणों को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं और दूसरा व्यक्ति उनसे डर रहा तो फिर तो भगवान से भी तो डर पहले होगा नहीं उसको जैसे बहुत तो पानी बरसा तो बहुत पानी बरसने में सब भूल जैसा अंतर हो गया उसमें देखो समझ पाए नहीं बन हम्म। जिन पाखंड विवाद से लुप्त हो सदगुण बहुत पानी बरसा तो जगह घास फूट चिंता चिंता कर जगह जंगल जहाँ पर जंगलिया थी वहाँ पर भी भाई बचाव लोग आंख बांध रहता है फिर नहीं मिलता बस ऐसे ही लोगों जहाँ पानी है जहाँ स्वाद का अपना अंदाज फैलता होगा जो सदगत है उनको तो आरोप लगा करके गलत बता करके उनको तो इतना कर देंगे और अपनी सिद्धांत अपनी मान्यता हम जो बताते हैं जैसे नया साफ रख रहे हैं हम जैसे तो बता रहे हैं नया रास्ता बता रहे हैं बस ऐसे अंदाज लोग शासन के द्वारा नए नए रास्ते बताने लगे धर्म में इस प्रकार से इसमें बार बार कहा गया कि देखो सनातन धर्म के मतलब सनातन मार्ग जो आना विचार से चला रहा है तुलसीदास तो जी कभी कहते हैं नया रास्ता बताने वाले हमारा तुलसी मार्ग चलेगा आज इसमें पुराने सब छूट जाएंगे यही कहते हैं जो मार्ग पुराना चला रहा है वही चला रहा है शंकराचार्य जैसे लोग होते हैं जो तो कहते हैं कि हम कोई अपना नया मार्ग नहीं चला रहे हैं कोई इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं जो उपनिषदों का मार्ग जो विष्णु सूत्र का गीता का मार्ग है उसी को हम स्पष्ट करते हैं बस ये बात साफ करते हैं और कुछ नहीं हमारा कोई अपना नया मार्ग है तो इतने इतने महान शंकराचार्य जैसे व्यास जी जैसे तुलसीदास जी जैसे बाकी जी जैसे ये सब लोग कोई इस बात की हिम्मत नहीं करते तो हम नया रास्ता बताएंगे नया मार्ग बताएंगे वही पुराना राज देखेंगे कभी उन्हें आकर के लोग बात है वो नई नए नए नए संप्रदाय और शास्त्र भेद मत की जरूरत जिस मान्यता वहां है उस बात कहीं न कहीं संगत दोष मिल जाता कभी न कहीं हमें कमियां मिल जाती इस प्रकार से देखते हैं कि अन्य अन्य जो बीमारी है करने कहीं होगा अरे साहब और सकते हैं अगर दो चार सौ सौ मार्ग क्या है बहुत हो गए ये सब कोई खबरदारी की बात नहीं ना की बात इसलिए देखो इसमें शास्त्रों की रक्षा जल्दी करो शास्त्रों का धन अध्ययन करेंगे और उनके सिद्धांतों को स्पष्ट करके समाज में रखेंगे नहीं तो वर्ष लिखा होगा तो अन्य लोग क्या करेंगे शास्त्र के विरुद्ध लेकर के और शासन लेकर के नए नए रास्ते चला देंगे